फियोना की लेस लेखन व चित्रांकन पेट्रीसिया पोलेको भाषांतर पूर्व याज्ञ कुशवाहा हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी बहुत सालों पहले मेरे पिता का परिवार आयरलैंड के लिमरिक से कुछ मील दूर एक छोटे से गरीब गांव में रहा करता था उस गांव के लोग वहां की कपड़ा मिल पर निर्भर थे जो कुछ ही समय में बंद हो जाने वाली थी जाहिर है कि सबका भविष्य अनिश्चित था पर ग्लेन कैरी के रहने वाले अपने गांव के अलावा और कुछ जानते ही नहीं थे मेरे पिता की दादी फियोना ने उन्हें बताया था कि उनकी एक छोटी बहन भी थी एलिश दोनों बहनें हर शाम घर के फाटक के सामने अपने पिता के मिल से घर लौटने की राह देखा करती थीं उनकी माँ एनी के हाथ का बना सूप यानी शोरबा और डबल रोटी दूर दूर तक मशहूर था ह्यूज परिवार में रात का खाना दरअसल बेहद स्वादिष्ट हुआ करता था पर फियोना और एलिश को जो सबसे अच्छा लगता था वो था खाने के बाद अपने पिता मिक के किस्से सुनना दा यानी पापा दा हमें बताइए ना कि आपने माँ को शादी के लिए कैसे मनाया फियोना ने फुसफुसा कर कहा हाँ दा हमें भी बताइए ना एलिश भी चहकी किस्सा शुरू करते समय उनके पिता की आंखों में एक चमक हुआ करती थी अब चाहो तो भरोसा करो ना करना चाहो तो मत करो उन्होंने शुरुआत की दोनों लड़कियां और उनकी माँ भी ठीक से सुनने को आगे झुकाई एक समय तुम्हारी माँ और मैं लिमरक की कपड़ा मिल में काम करते थे मैं दिन के खाने की छुट्टी के समय एक लेस पार्लर यानी कि वो जगह जहाँ स्त्रियाँ लेस बनाया करती थीं के सामने से गुजरा करता था वे रुके और फियोना व एलिश की ओर एक मुस्कान उछाली बच्चियों को किस्सा मुंह जबानी याद था तब एक दिन मैंने वहाँ एक ऐसी सुंदर लड़की देखी जैसी पहले कभी ना देखी थी कोरी गप है मिक लगता है तुमने ब्लारनी पत्थर को चूम लिया है आयरलैंड की कहावत है कि इस पत्थर को चूमने वाला बोलने में माहिर हो जाता है सो मैंने उस लेस पार्लर की सारी लड़कियों से चिरौरी की कि वे मुझे उसका पता दें ताकि मैं उससे मिलने जा सकूं पर एक ने भी मुझे घास नहीं डाली तब एक दिन मिल से निकलने पर मैंने पास ही एक झाड़ पर लेस का एक टुकड़ा बंधा देखा आगे मुझे पेड़ों झाड़ों घरों के चबूतरों सड़क बत्ती के खंभों पर लेस के टुकड़े नजर आए मैं उसकी लेस को पहचान गया था सो मैं गली कूचों को पार करता उनकी निशानदेही के सहारे बढ़ता गया जब तक उसकी छोटी सी कुटिया तक न जा पहुंचा उसके आगे लेस के टुकड़े थे ही नहीं मैं समझ गया कि यही तुम्हारी माँ का घर है फियोना और एलिश ये सुन ठिठियाने लगी पखवाड़ा भी ना बीता होगा कि मैंने तुम्हारी माँ के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया हमारी शादी यहीं सेंट टिमथी गिरजे में हुई मैं अपनी दुल्हन को इसी घर में लाया उसे गोदी में उठा इसी दहलीज को पार किया पिता ने हाथ फैलाकर घर की ओर इशारा करते हुए कहा तुम दोनों का जन्म भी यहीं इसी अलाव के पास हुआ था माँ ने जोड़ा सोचो ज़रा लेस की निशानदेही आपको हमारी माँ तक ले आई फियोना ने जैसे सपनों में खोते हुए कहा तब हर दिन की तरह फियोना अपनी दिन भर की दस्तकारी पिता को दिखाने लाई माँ उसे लेस बुनना सिखा रही थी आज माँ ने मुझे अपना खुफिया सादा टांका सिखाया फियोना ने फ़ख्र से कहा और लेस से सजा एक छोटा तकिया पिता की ओर बढ़ाया हाँ रे फियोना तुम्हारी माँ समूचे लिमरिक की सबसे शानदार लेस बनाया करती थी उन्होंने कुछ उदासी से माँ की ओर मुस्कान उछालते हुए कहा पर गठिया के रोग ने उस पर रोक लगा दी एनी ने धीमी आवाज में जोड़ा उसने मुस्कुराने की कोशिश भी की सब जानते थे कि एनी की सूजी उंगलियों में दर्द रहा करता था और फिर मैं जितना कुछ कर पाने की उम्मीद करती थी फियोना उससे कहीं बेहतर लेस कारीगर होगी उसे बड़ी हो जाने दो तब हम खुद उसे लिमरिक के लेस पार्लर ले जाएंगे वो सबसे उमदा कारीगर बनेगी फियोना की लेस को निहारते एनी ने बड़े फ़ख्र से कहा यह समय पूरे ही आयरलैंड के लिए कठिन समय था और ग्लेन कैरी में तो हालात और भी ख़राब थे इसने कई लोगों की आमदनी का आधार ही छीन लिया कई परिवार अपना जाना बूझा संसार छोड़ रोज़गार की तलाश में पलायन करने पर मजबूर हो गए हम कहाँ जाएंगे मिक एक दिन एनी ने पूछा वो भारी चिंता में थी तब एक रोज़ उनकी पड़ोसन श्रीमती ओ फ्लैरिटी ने पिछवाड़े की बाढ़ से झांक कर बात की मेरे जैको और मैंने एक करारनामे पर दस्तखत कर दिए हैं अमेरिका तक सफ़र करने के लिए हमें बस इतना ही करना पड़ा अपने कपड़े सुखाते वक्त उसने इन्हीं को बताया किस बात का करारनामा इन्हीं ने जानना चाहा अरे अमेरिका में एक अमीर परिवार की सेवा टहल करने का हम उनके घरेलू सहायक होंगे तुम्हारा मतलब है तुम उनके यहाँ चाकरी करोगी एनी ने पूछा बेशक और जैको उनके बाग बगीचों की देखभाल करेगा वो परिवार हमारी टिकटों के पैसे चुकाएगा बस हमें ये वादा करना पड़ा है कि जब तक उनके पैसे चुक नहीं जाते हम उनके यहाँ काम करते रहेंगे श्रीमती ओ फ्लैरिटी ने खुलासा किया शाम को एनी ने मिक को ये बताया वे दोनों देर रात तक इस बारे में बातचीत करते रहे सप्ताह भर के अंदर ही वे भी उस एजेंसी में गए और अमेरिका के शिकागो शहर के एक अमीर परिवार के यहाँ काम करने के करारनामे पर दस्तखत कर आए शिकागो अमेरिका फियोना चीखी उसने अमेरिका के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था एक और वो जोश से भर उठी पर साथ ही वो उदास भी हो गई उसे अपने नन्हे से गांव से बेहद प्यार जो था अगले कुछ सप्ताह सबके लिए मुश्किल थे उन्हें तय करना पड़ा कि क्या साथ ले जाया जाए क्या छोड़ दिया जाए घर में उस आखिरी रात फियोना और एलिश ने लेप्रिकॉन यानी कि काल्पनिक परी बौने के लिए एक कटोरे में दूध रखा जैसा वे अब तक हमेशा रखती आई थीं फियोना पता है अमेरिका में चाकरों के भी सेवक होते हैं सड़कों पर सोना मड़ा होता है हम वहाँ एक शानदार घर में रहेंगे काश हम इन नन्हे परी बौनों को भी साथ ले जा सकते क्या ले जा सकेंगे एलिश ने अपनी बहन से पूछा नहीं एलिश वे जंगल में जुड़वा लताओं के पास ही खुश रहते हैं यहीं ग्लेन कैरी में फियोना धीनी आवाज़ में बोली अगली सुबह माँ और पिता ने अपनी ज़िंदगी भर के दोस्तों से विदा ली बुजुर्गवार फिटजरल्ड ने छक्के में आखिरी पोटलियों को धरने में मदद की तब पूरा परिवार भी उसमें सवार हुआ अपने घर बार अपने गांव को छोड़ते वक्त उनकी नज़रें पीछे मुड़कर हर कुछ को देखती जा रही थीं तब पहाड़ी के मोड़ पर उनका गांव झुरमुट के पीछे ओझल हो गया एलिश और फियोना देर तक सुबकती रहीं उनकी माँ भी पर पिता सूनी आंखों से दूर घूरते रहे उस रात काफ़ी देर तक और अगले दिन भी कुछ समय तक सफ़र जारी रहा आखिरकार बेलफस्ट पहुंचकर वे सीधे घाट पर गए ताकि अमेरिका जाने वाले भाप के जहाज़ पर सवार हो सकें जहाज़ घाट छोड़ने लगा था अपने चहेते आयरलैंड को उन्होंने हसरत भरी नज़रों से देखा अटलांटिक महासागर को पार करने में काफ़ी समय लगा इस दौरान कई सवारियां घबराहट और चक्करों से परेशान हुईं पर समय काटने के लिए फ्योना अपनी लेस बनाती रही गज दर गज अंततः वे न्यूयॉर्क के घाट पर पहुंचे धरती पर कदम धरने को सभी बेताब थे पर उन्हें उतरते ही समय ज़ाया किए बिना कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी ये काम पूरा होते ही वे सीधे रेल स्टेशन गए ताकि शिकागो जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ सकें रेलगाड़ी में लेटने के लिए फट्टे या चारपाइयाँ तो थी नहीं सो वे बारी बारी कठोर सीट पर सोए कम से कम जहाज़ में सोने की जगह तो थी एलिश ने थक कर शिकायत की कई दिन गुजरे फियोना ने और और लेस बना खुद को व्यस्त रखा झटकों गर्मी और गर्द भरा था ये सफ़र वे अनेक कस्बों और शहरों से गुजरे कुछ बार रुकने के बाद वे उतर कर डबल रोटी और पनीर खरीदते आखिर एक दिन कंडक्टर ने ऐलान किया कि वे शिकागो पहुंचने वाले हैं हम पहुंच गए पहुंच ही गए एलिश खुशी से चहकी रेलगाड़ी अब मवेशियों से अटे मीलों लंबे इलाकों से गुजर रही थी उसके पार उन्हें ऊंची इमारतों से भरा शहर नजर आया मुझे तो लगता है कि ये सारे मवेशी बूचड़ खाने में जाने वाले हैं अमेरिका में लोग खाते तो अच्छे से हैं लगता है हर एक मेज़ पर मांस होता होगा पिता ने गमक कर खुश होते हुए कहा देखो मांस समुद्र तो शिकागो के पास ही है फिर जहाज़ हमें यहाँ क्यों नहीं लाया वो समुद्र नहीं लेक मिशिगन है बेशक लगता वो समुंदर जितना बड़ा ही है कंडक्टर ने जानकारी दी शिकागो स्टेशन के बाहर सवारियों को उनके घर पहुंचाने के लिए भाड़े पर मिलने वाली घोड़ा गाड़ियां थीं फियोना के पिता ने एक चालक को वो पता दिया जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई थी शहर से गुजरते हुए फियोना को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था हर एक इमारत पिछली से ज़्यादा शानदार दिख रही थी एक के बाद एक उनकी कतारें नज़र आ रही थीं लकदक कपड़ों में लैस लोगों के हाथ खरीदारी से भरे थे उन सुंदर फ्रॉकों को तो देखो एलिश ने आ भरते हुए कहा शर्त लगे उन पर आयरिश लेस की सजावट है पिता ने जोड़ा क्या हम यहाँ रहेंगे एलिश ने चहक कर पूछा हमारा फ्लैट डेकेनॉन स्ट्रीट पर है क्या वो पास ही है पिता ने चालक से पूछा वो मुस्कुरा कर बोला नहीं साहब वो काफ़ी दूर है जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए ये साफ होने लगा कि वे जहाँ जा रहे थे वो शहर का बढ़िया इलाका नहीं था सड़कों पर अब फेरी वालों की भीड़ थी जो ठेला गाड़ियों पर सामान बेच रहे थे नजर आने वाली इमारतें और घर खस्ताहाल और बदरंग थे यही 120 डेकेनॉन स्ट्रीट है चालक ने कहा तब उसने सामान टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर पहुंचाने में मदद की अरे एनी आवाज़ ग्लेन कैरी की उनकी पड़ोसन श्रीमती ओफ्लैरिटी की थी हम भी उसी परिवार के लिए काम करते हैं उन्होंने बताया कि तुम लोग आ रहे हो सो मैंने तुम्हारा फ्लैट साफ कर दिया और बिछौने लगा दिए हैं उन्होंने उत्साह से कहा कुछ तो गड़बड़ है माँ अगर तुम और दा अमीर लोगों के यहाँ काम करने वाले हो तो वे हमें ऐसी जगह पर क्यों रखेंगे फियोना ने फुसफुसा कर माँ से कहा एनी और उसकी बेटियों ने फ्लैट की जमकर साफ सफाई की जबकि मिक ने खाने पीने की व्यवस्था की पुरानी मेज़ कुर्सियों को साथ लाई चादरों और रजाइयों से ढककर सजाया अब उनका दो कमरों का घर कुछ रहने लायक लगने लगा पर ऐसे घर में वे कभी रहे ही नहीं थे एक कमरे में बर्तन मांजने की जगह सूखी रसोई थी दूसरे कमरे में तीन बिस्तर ठसे थे एनी और श्रीमती ओफ्लैरिटी एक ही परिवार के रसोई घर में सहायिकाओं का काम करती थीं उन्हें काम पर पहुंचने के लिए तीन बार ट्रॉली बदलनी पड़ती थी मैं पहली तनख्वाह का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ बच्चियों को स्कूल शुरू करने के पहले नए जूतों की ज़रूरत है एनी ने एक रोज़ फर्श रगड़ते हुए धीरे से कहा तनख्वाह श्रीमती ओफ्लैरिटी ने चिड़कर कहा तुम्हें पता नहीं इन लोगों की सेवा चाकरी की एवज में कुछ मिलेगा नहीं इन्होंने तुम्हारा किराया जो चुकाया था जब तक वो पैसा चुक नहीं जाता तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली याद रखना वे उस चूहेदानी तक का किराया काटेंगे जहां हम रहते हैं वो इमारत भी इन्हीं की है और काम के समय पहनने को दी गई वर्दी के भी पैटी हगर्टी ने कहा जो साथ काम करती थी तुम्हें कोई दूसरा काम भी तलाशना होगा जिसे शाम को कर सको प्यारी हम सब यही करते हैं ठीक ही कह रही थी वे एनी और मिक दोनों ने दूसरे काम तलाशे मिक खाने में लगा और एनी ने शहर के एक होटल में कपड़े धोने का काम ढूंढा पर तब एक दिन श्रीमती ओ फ्लैरिटी ने अपनी पोशाकें बनाने वाली एक दुकान के बारे में बताया वे उम्दा आयरिश लेस तलाश रहे हैं तुम्हारी फ्योना की लेस जितनी सुंदर लेस तो मैंने कभी देखी ही नहीं है उन्होंने तारीफ करते हुए कहा एनी ने दुकानदार से समय लिया और फ्योना और उसकी लेस लेकर खरीदारों को दिखाने गई जाहिर था कि लेस को देख वे बेहद खुश हुए उन्होंने फ़ौर लेस की अच्छी कीमत देने की बात कही वो जितनी भी लेस बनाए हम खरीद लेंगे जब एनी और फ्योना घर लौटे उन्होंने एलिश और मिक को खुशखबरी सुनाई तय हुआ कि इस खुशी में एक दावत तो होनी ही चाहिए अब हम जल्द ही अमेरिका में घर खरीदने लायक पैसे बचा ही लेंगे एनी कमरे में नाचती जोश से बोली मैंने तो जगह भी सोच ली है हम उस समंदर को पार करेंगे जो मिशिगन लेक कहलाता है और वहां ज़मीन खरीदेंगे पिता ने उत्साह में गमकते हुए कहा हमारा एक छोटा सा खेत और कुछ भेड़े भी होंगी एलिश गुनगुनाई उस जगह का नाम भला क्या है दा जहां हम जाएंगे फ्योना ने पूछा मिशिगन अपनी बांसुरी उठाते मिक ने खुशी से कहा उस शाम सारे पड़ोसी नाचने गाने जश्न मनाने इकट्ठा हुए कुछ तो फ्योना की लेस के टुकड़े थाम नाचे फ्योना को बधाई वे कमरे में घूमर लेते गाने लगे इस बच्ची और उसकी लेस ने तो ह्यूज परिवार को बचा लिया श्रीमती ओफ्लैरिटी बोली ऊपर वाली की मेहरबानी बनी रहे हम सब पर एनी ने दुआ मांगी जश्न अगली सुबह मैस यानी कि गिरजे की प्रार्थना तक चलता रहा आने वाले महीनों में ह्यूज परिवार लगातार बचत करता रहा यह रकम एक खाली चाय के डब्बे में रसोई घर के सबसे ऊपरी आले में रखी जाती थी अक्टूबर का महीना आया ऑल हेलोस ईव संत दिवस या हेलोइन आने ही वाला था एक शाम रात के काम पर निकलने से पहले पिता दोनों बच्चियों को कहानी सुनाने बैठे ये किस्सा पूका का है जो कॉस्टा बावर यानी मौत का वाहन पर जुता हुआ भुतहा काला घोड़ा है बैनशी यानी मौत के पहले चीखने वाली भूतनी चीखती है उन दरवाज़ों पर थपकी देती है जहाँ से उसे आत्माएं ले जानी है पिता ये कहते हुए कांपने का नाटक करते हैं मुझे नहीं सुनना ये किस्सा दा मुझे तो लेस की निशानदेही वाला किस्सा सुनाइए जो आपको माँ के पास ले गई थी एलिश अड़कर बोली प्यारी बेटिया वो तो तुम्हें मुंह जबानी याद है फिर भी वही सुनना है मुझे ग्लेन कैरी के बारे में सुनना है मुझे घर की आयरलैंड की याद आती है पिता ने उसकी बात रखी माँ ने जाने से पहले फियोना और एलिश को गले लगाया उन्हें सोने की हिदायत देते हुए कहा मेरे नन्हे मेमनो विश्राम और प्रार्थना का दिन कभी ना भुलाना खुदा से प्यार करना घर तो दिल में बसता है जब तक तुम उन लोगों को याद रखोगे जो तुम्हें प्यारे हैं घर वहीं होगा जहां तुम हो तब दोनों काम पर निकल गए एलिश तो झट से सो गई पर फियोना घंटों तक मगन हो लेस बनाती रही जब उसने आंखें ऊपर उठाई तो खिड़की से रोशनी दिखाई दी काफ़ी देर हो चुकी थी तो ये रोशनी भला कहाँ से आ रही होगी तब उसे शोर सुनाई दिया लोग भाग रहे थे अचानक किसी ने दरवाज़ा भड़बड़ाया ये तो बैनशी भूतनी है हमारे लिए आई है गहरी नींद से चौंक कर जाग एलिश चीखी तब एक आवाज साफ सुनाई दी आग आग लगी है बचो भागो फियोना ने एलिश को जस्तस कपड़े पहनाए दोनों के शॉल उठाए बचत की रकम वाला चाय का डब्बा और लेस का थान लिया और रोती हुई बहन को घसीटते हुए फ्लैट से निकल गई टूटी फूटी सीढ़ियों से लगभग लुढ़कते हुए वे नीचे उतरी और गली में दौड़ गईं हर ओर भागम भाग मची थी लोग चीख पुकार मचा रहे थे गली में पलट कर देखने पर आसमान तक उठती लपटे दिखी बाकी जगह अंधेरा और धुआं धुआं था उसी पल दमकल की घंटी घोड़ों के निनाट और टापें सुनाई दी ये तो पूका और कोस्टा बावर हैं एलिशदा की सुनाई डरावनी कहानी को याद कर चीखी नहीं एलिश ये दमकल गाड़ियां हैं आग बुझाने आई हैं फियोना ने हाथ खींचते उसे समझाया माँ और दा कहाँ हैं कहाँ है वे दोनों अगर घर जल जाएगा तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे एलिश सुबकी फियोना ने कोई जवाब नहीं दिया वे तब तक दौड़ती रहीं जब तक गले में खून का स्वाद न उतर आया हम कहाँ जा रहे हैं फ्योना कहाँ एलिश ने हाफते हुए पूछा हम पलटकर घर की ओर लौट रहे हैं वहाँ आग बुझाई जा चुकी है अब वापस नहीं उभरेगी फ्योना ने जवाब दिया माँ और दा हमें कैसे ढूंढेंगे एलिश फिर से सुबकने लगी फ्योना ने लेस का थान खोला कैंची अब भी उसके गले में ही लटकी थी वो लेस के टुकड़े काटने लगी नहीं फ्योना इतनी सुंदर लेस इतनी प्यारी लेस एलिश तो मानो पगलाने लगी एलिश यही एक तरीका है हम लेस की निशानदेही छोड़ेंगे ताकि माँ और दा हमें तलाश सकें फ़ियोना ने बहन को दिलासा दी फ़ियोना ने लेस का आखिरी टुकड़ा एक तहखाने के दरवाजे पर बांधा तब दोनों रेंग कर अंदर घुस गईं रात के अंधेरे में घंटों दोनों वहीं दुबकी रहीं सुबह की रोशनी के साथ एलिश ने फिर से रोना शुरू कर दिया माँ और दा को अब तक हमें ढूंढ लेना चाहिए था हम तक पहुँच जाना चाहिए था एलिश की रुलाई बढ़ती जा रही थी लेस की निशानदेही उन्हें हम तक ले आएगी मुझे पक्का भरोसा है एलिश फियोना ने फिर तसल्ली दी अगर इस भयानक आग में वे झुलस गए हों तो पूरा शिकागो जलकर राख हो चुका है एलिश की सुबकियाँ बढ़े जा रही थीं उसी पल उन्होंने वो परिचित जुमला सुना मेरे प्यारे नन्ने मेमनो ये उनकी माँ की आवाज़ थी माँ और दाद दोनों के हाथों में राख और कालिक से सने लेस के टुकड़े थे हम घंटों से तुम दोनों को तलाश रहे हैं हम तो हारी मानने वाले थे माँ ने दोनों को चिपटाते हुए कहा तब हमने देखा उम्मीद की नन्ही सी किरण को तुम्हारी लेस को फियोना बत्ती के खंभे से बंधे लेस के टुकड़े को पिता ने कहा हम उनके पीछे पीछे चलते आए हर एक टुकड़े के पीछे माँ ने जोड़ा और वे हमें तुम तक ले आए सीधे तुम दोनों तक पिता ने गाल पर लुढ़कते आंसुओं के साथ कहा पर माँ फ्योना की लेस बर्बाद हो गई उस पर राख और कालिख जम गई है एलिश ने अफसोस जताया नहीं नहीं प्यारी बच्ची ये तो दुनिया की सबसे सुंदर लेस है बावजूद इस कालिक के इसने तुम दोनों को बचाया है और हमें भी माँ एलिश को चिपटा कर रोने लगी हम और हमारी बाद आने वाली पीढ़ियाँ इसे सहेजे संजोएंगे फियोना हमेशा मिख्यू सही थे मेरे पिता के परिवार ने सच में फ्यूना की बनाई लेस के उन टुकड़ों को पीढ़ियों तक संजोया उनके परिवार की अधिकतर दुल्हनों ने शादी के वक्त उसे या तो अपने घूंघटों पर सजाया या फिर अपने गुलदस्तों पर बांधा या अपनी शादी की पोशाक पर अपने दिल के करीब टांगा मैं फ्योना की लेस को एक फ्रेम में मड़वा कर अपने घर में सम्मान के साथ रखती हूँ पर सच तो यह है कि मेरे दिल में उसके लिए एक पाक जगह है क्योंकि जब भी मैं उसके सामने से गुजरती हूँ मैं अपने माता पिता को उनकी माँ को अपनी बुआओं मौसियों को ताऊ चाचाओं को और आयरलैंड के उन नन्हे परी बौनों को याद करती हूँ वे सब उस लेस में समाये हुए हैं तब मैं खुद को खुदा का शुक्राना अदा करते पाती हूँ और इन्हीं की उस हिदायत को याद करती हूँ जो उन्होंने अपनी बेटियों को दी थी घर वहीं होता है जहां हमारा दिल बसता है और वह तब तक आबाद रहेगा जब तक मैं उनको सबको याद रखूंगी जिनसे मुझे प्यार है शुक्रिया फ़ियोना तुम्हारी अद्भुत विरासत के लिए शुक्रिया तुम्हारी अनमोल लेस के लिए तहे दिल से शुक्रिया